तो सकते हो आप संकल्प की बात जब निश्चय हो जाएगा तो रह जाएगा कोई आपत्ति नहीं सब कर सकते हैं दमन कर सकते हैं लेकिन तो सबको बोलना बड़ा घटना कोई पूछे आपसे आप क्यों तपस्या कर रहे हो अब वो नहीं पाते अंदर की कहानी कोई नहीं पाते तपस्या कहा देख दीजिए हमसे ब्रह्म क्या कर रहे ब्रह्म नहीं कर रहा है वो अंदर कोई चो गया है मामला वो उसके लिए करता जान पड़ गया कि छोड़ गया घर से चला गया आश्रम से भाग गया और यही संकट देखिए मैं बहुत बड़ा आश्रम बनाऊंगा दिखा दूंगा दुनिया को क्या समझता दुनिया उसी बात से कर रहे थे बस शरीर आप पूछो तो बोलेगा ब्रह्म है सारे तत्व शरीर इसी ये कठिन काम है साधक से पूछो कि वो हंड्रेड परसेंट सच बना रहे तो इसलिए कहा कि ब्राह्मण के सिवाय बड़ा मुश्किल है और आज के ब्राह्मण की बात नहीं है जो सत्य में ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ करते थे उनका जन्म का स्वभाव ही ऐसे था सत्य के सेवा मुख से कुछ निकलता ही वो छायल कहता है भ्रम माया झूठ क्या जानते ही नहीं ये कार्यक्रम है ना और कलयुग के प्रभाव से अब ब्राह्मण जाति में ही थोड़ा खिचड़ी बन गया है तो लेकिन फिर भी ठीक है बाकी से फिर भी ठीक है उसको मेरे जाते जो पैसे इसका कहना है साधना अतिशय है इसलिए सबसे बड़ा कठिन काम होता है इस बात को ज्ञापन करने के लिए दोबारा सत्य को अलग से ग्रहण किया है मंत्र ने तो क्या प्रमाण है तो विष्णु स्मृति का है ये क्या कहती है अश्वमेव संजा सत्यम चुल्य अश्वमेव सहस्राच सत्यम विष्णु स्मृति श्लोक संख्या आठ अश्वमेध सहस्रंश एक हजार अश्वमेध याद कर दो और सत्यम तुल्य दोनों को तराज में रख दो एक सत्य को रख दो और दूसरी तरफ एक हजार अश्वमेध याद कर दो तराजू बराबर हो जाएगा इस तरह से के द्वारा सत्य का स्तुति किया गया क्योंकि वास्तव में हजारों अश्वमेध यागों से परे में एक सत्य अश्वमेध सहस्राच एकम सत्यम तो कह दिया सुधी के लिए पर का प्रकट करता है वास्तव में ये सारा कर्म धर्म जितने भी इन सबसे महान सत्य धर्म जो है उसको संहार कर रहे हैं अंतिम मंत्र की तरह स्कंड में वेद अपहत्य पापार अनंते स्वर्गे लोके जो कोई व्यक्ति एवं निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को वेदा समय ब्रह्मोपासना निर्मल स्वरूप को जो जान लेता है जिस प्रक्रिया से इस परिषद में कहा गया है ऐसा जो जान लेता है वह अपहत्य पापमान तो पापों का ध्वंस कर है उसके सारे पापों का ध्वंस होकर के अनंत स्वर्गीय लोग को स्वर्गीय लोगों ने शिक्षा दिया ऐसा ना हो कि आगे स्वर्ग ले लेंगे जिसका तो इंद्र राजा है नहीं ये स्वर्ग लोग नहीं जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा जो अनंत स्वर्ग के लोग कौन होगा भाषिका स्वर्ग बताएंगे स्वर्ग का उत्पत्ति करके दिखाएंगे स्वर्ग मरे आपको तो। बताएंगे स्वर्गीय लोग तो और भी जगह और विशेषण दिए तो जी और अनंत दो विशेषणों की तरह महान है महान जीवन महान क्योंकि अभी जितना भी लोग स्वर्ग लोग लोग वो तो श्रेष्ठ ही मिल सकता है ना क्योंकि वहां पुण्य छीन हो गया वहां से लात मार दी तुरंत तुमको पागल में फेंक देंगे सीधे नीचे गिरा दे जाओ तुम्हारा टाइम पूरा हो गया जैसे रिटायरमेंट हो जाए ना अभी का तुम्हें जब नौकरी से निकलते तो घर में आते उसके आ जाते जाने खत्म हो जो इज्जत था व्यवहार था भाग थी सारा खत्म हो गया तुम्हारा खत्म होता वैसी हालत नहीं लेकिन ये सुन नहीं लेना ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि यह अंत वाला है ये अनंत वाला नहीं इसे गौरव विशेषण दिया ये अनंत स्वर्ग लोग प्रतिष्ठित वह वहां प्रतिष्ठित हो जाता है अर्थात फिर वह संसार में जन्म नहीं लेता जन्म उसका इसलिए देवगार हो गया दृष्टि युधिष्ठि एक तो खंड समापन और पुरुष समापन और पुनः कथन जो है स्थायी प्रतिष्ठा को बताना है अनित्य प्रतिष्ठा नहीं भाषिकार योगाम रविद्याम यथोक्ता ये तो नहीं समझना क्यों सदन उपासना इसलिए ब्राह्मण भाषिकार करें शुरू से ले लो केने शिवतम से लेकर उपक्रम से लेकर यहाँ तक पूरी की थी इत्यादि है बहुताप एवं महाभागा इस प्रकार से जो महान परम भाग्य को, को प्राप्त होने वाली विद्या में से इस महाभागा का देते परम भाग्यशाली पुरुष को ही प्राप्त होने वाली विद्या है अभी सबको प्राप्त होती नहीं है भगवान ने अभिदान सिद्धान सिद्धानाम कश्चित विद्यमान करके कहा हजारों सिद्ध लगे हुए हैं मतलब कि कोई कोई मेरे को जानता है सब थोड़ी जानता है और कथा जानना किसी किसी की बांस की बातों की सभी तो बहुत हो सकते हैं ज्ञानी बहुत मुश्किल है इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि जो है महाभागा ब्रह्म देव सुता क्योंकि स्थिति भी देखो देवता लोग असुर योग वो समझ नहीं पाए इंद्राणी भी कवपीठ है यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं हो पाई वृक्ष को देखा प्रकाश पुंज को देखा समझ नहीं पाए ब्रह्म है ब्रह्म ही अपना जो विशिष्ट स्वरूप है हमको अनुभव करा रहा है शुद्ध सत्य रूप को दिखा करके अनुभव करा रहा है ये समझ में नहीं आया लोग पाम और क्या करें तो जो पामर है इसलिए कहते हैं ब्रह्मा इत्यादि सुधाम मात्र विद्या ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा सर्वाधि विद्या की प्रतिष्ठा पूज्य सभी विद्या में अत्यंत पूजनीय विद्या है ये ब्रह्म विद्या इसलिए सकल विद्याओं का भी जो प्रतिष्ठा रूपा है और सगल विद्याओं के उच्चतमा सर्वश्रेष्ठ पूज्य है उत्कृष्ट है अध्यात्म विद्या विद्याराम भगवान खुद कहेंगे गीता जी में जो अध्यात्म विद्या है सगल विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है ऐसा ज्ञान कहा सर्वकर्माधम पार्थ ज्ञानी पर समाप्त भी करते भगवान गीता सगल कर्म जो है कहा जाके लीन हो जाता है ज्ञान इसलिए कहते हैं कि ऐसी ये जो ब्रह्म विद्या है इसी कहते सेवा सारी विद्या कर्म विद्या भक्ति विद्या उपासना विद्या सर्जन विद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ पूज्य कमाल विद्या है आपकी इसको जो जो जानेगा तो क्या नाम करेगा पहले बोल चुके हैं समृद्धम ही इस उत्तम अभी ब्रह्म विद्या अंतिम निगम है इसलिए पहले कह चुके दोबारा टाइम की जरूरत नहीं है यहाँ फल उपरा विचार का फल क्या है मुक्त कहीं दोबारा निगमन किया जा रहा है समाधान इसलिए कहते हैं उच्च सुख विचार का फल को अनुदेव में समाप्त हो निगमयते अभत्य अविद्या काम कर्म लक्षण संसार बीज विधूज पापों को नाश करता है का तात्पर्य क्या अविद्या अविद्या से जन काम काम से जन जो कर्म इन सारी चीजा जो संसार का बीज था उस संसार बीज को ही करके अनंत अपरिलंब जो परिच्छेद में वही है स्वर्ग के सुखात्म के ब्रह्म नीचे तक स्पष्ट करते हैं क्या स्वर्ग क्या लेना सुखात्मक ब्रह्म यही सुख शब्द का सुखात्मक ब्रह्म शब्द को स्वर्ग में शब्द का पर्यायवाची है तो स्वर्ग शब्द स्वर्ग शब्द का पर्याय स्वाहा और स्वाहा का अंदर यन्न दुख के संभिन्नम न चक्रम निरंतरण अविनाशी पुनीतम सहपद पदम इसलिए न संघिन्नम जो दुख से निश्चित नहीं विशुद्ध कि हम लोगों को इन इंद्रियों के द्वारा विशेष रूप जो प्राप्त होता है ब्रह्मा के ब्रह्मा जी तक के लिए कीट स्तम पर्यंत से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत की जो समस्त जीवों के लिए जो सुख अनुभव होता है वह दुख से विशिष्ट है दुख से संभिन्न असंभिन्न दुख से मिश्रित है कुछ देर के लिए रहता है और बाद में कुछ देर के लिए सुख है फिर सो गए जिस दिन नाटक से अपने आए हैं जब गलते बढ़ते अंदर चूड़ियाँ से मिल जाती है फिर याद आती है फिर रोटी मिल जाए फिर हमारा मिल जाए कुछ लोग सोचते हैं तो क्या है अब तो सुख था खाए पिए बड़ा मस्त तो हो आपको तो दो चार घंटे के बाद दुखा दे फिर भूख फिर खाओ भी फिर आराम खा के सो भी गए कुछ नहीं भूल जाते घर दुनिया को और फिर दो चार घंटे के बाद फिर हाल दुख सुख चक है ना ये दुख से आविष्ट सुख हो रहे लेकिन दुख से निश्चित सुख है और वो जो सुख स्वरूप क्या ब्रह्म वो दुख से बिल्कुल असंभिन्न है यह न दुख की असंभिन्न और अगर जाना लेकिन बाद कभी न कभी तो आई जाता है कभी कभी न कभी आए सौ दो सौ साल हजार साल लाख साल दो साल लाख साल या ये कल बैठा अगले कल में आ जाता होगा कभी न कभी तो हमको पकड़ता होगा दोबारा तो मैं सब ग्रस्त हूँ आनंद ध्यान कर ग्रस्त होता ही नहीं कभी ही अनंतरम है अनंतर अंतरम मैंने भेदे न कृपा मैंने किंचित से व्यवधान होगा कदापि न ग्रस्त और अभिलाषोपनी अभिलाषोपनी है मने आप क्या हो गए सत्य काम सत्य संकल्प शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो सत्य काम वो सत्य संकल्प है सारी कामी अभिलषित सकल कामना आपको प्राप्त हो तो हो जाता है गृहित हो जाता है ज्ञान माध्यम से उपसर्पण शब्द ज्ञान पर देते हैं ये उपनय दबान सन्निकर्ष बोलते हैं ज्ञान सन्निकर्ष को ऊपरी प्रधान नहीं कहा विपरीत सारी अभिलाषाएं आपकी ज्ञान मात्र से संकल्प मात्र से प्राप्त हो सत्य काम सत्य संकल्प हो जाता है इसीलिए पद ऐसे जो पद जिसमें आप सत्य काम सत्य संकल्प होते हैं जैसे दुख मिश्रित नहीं है जो दोबारा कभी ग्रस्त होता है नहीं है उस पद को ही स्वा इस पद से कहा जाता है तत्पदम पद का अच्छा इसे कहते हैं स्वर्गीय लोग कर्ता भाषाकार सुखात्म जी सुखात्म ब्रह्म में इसको प्राप्त कर जाता है अनंत विशेषणा न त्रिविष्टते पथ कर दिया अनंत ये विशेषण देने से ये त्रिविष्टक नहीं लेना त्रिविष्ट बने पर देवता और रहते हैं जिसमें उस लोक को त्रिविष्ट नाम से पुकारा जाता है अमर कोश नीचे दिया टिप्पणकार है जो लोको जो दिवे देव विष्टपम अमरदश मैंने इसमें लोग को नहीं लेना जो परिच्छिन्न सुख वाला है आनंद शब्द हो पाचारी को कोई कह सकता है अरे आनंद शब्द स्वर्गलोक का सुख को ही औपचारिक नहीं हो गया क्योंकि मानव के सुख की अपेक्षा से उनका सुख श्रेष्ठ ही है जिसमें आनंद का रहेगा तक तो होता तो है क्योंकि औपचारिक है यदि ऐसा कोई कहे तो दूसरा विशेषण यथाह जीवंती स्वार्थ महान अजात्मा ही है मुख्य प्रतिष्ठित उस मुख्य स्वार्थ प्रतिष्ठित होता है संसार भाव के लिए और संसार को प्राप्त नहीं करेगा ये इसका इस प्रकार से आपने देखा कि पद भाष्य में मंत्र का प्रत्येक पद पद को लेकर के विस्तार से विचार किया विवेचन किया आवश्यक शास्त्रार्थों के बीच में भी लेकर के समझा दिया अब क्या करते हैं पद पद की व्याख्या तो हो ही गया आपको पद पर आप समझ में आ गया कौन सी मंत्र में क्या बोलना चाह रहे हैं ये बात आपको समझ में आता अब प्रत्येक मंत्र का यह जात जात लेकर एक वाक्य पदम जाती हो वो संपूर्ण एक वाक्य को लेकर वाक्यार्थ विचार पद पदार्थ विचार पूर्वक संक्षिप्त में वाक्यार्थ का भाव समझा दिया गया है लेकिन वाक्यार्थ के तात्पर्य को खेच ले जाना क्योंकि ये बायस ये जो है गुरु शिष्य आदि का पहला प्रसिद्ध जो पढ़ रहे हैं आप इनमें से पहला तो ईश्वर शिव परिषद पड़ा और गुरु संवाद रूपा नहीं है यह सत्ता वो बात कह रही है पढ़वी से पदार्थ से पढ़ दिया वास्तव पदार्थ जो और शिष्य को इनका ज्ञान को क्या साधना करनी चाहिए पूछना स्पष्ट नहीं है पहले अविद्या उपासना करोगे सकाम उपासना निष्काम उपासना सब व्यस्त करोगे और उपासना पहले कर्म लिया कर्म से उपासना करोगे तो उत्तरायण मार्ग मिलेगा उसमें तो निष्काम उपासना अकाम उपासना पहले करो जिससे मृत्यु को ग्रहण करके और यह निष्काम उपासना के द्वारा तीव्र विद्या कर जा सकते हो इत्यादि उन्होंने केवल एक संक्षिप्त आपको मार्ग का झलक दिया क्योंकि जो आपके सामने नक्शा है चार धाम की नक्शा आपको में यहाँ से यहाँ से यहाँ जाया जाता है बाकी रास्ते में कितना परेशानी है क्या है क्या नहीं से पता करो जब चलोगे तो अनेक प्रकार की समस्या आते हैं अनेक प्रकार की समस्या चौराहे में लेके अब याद है वहां जाओ बिना पूछे काम चलता नहीं तो शिष्य क्या रहे हैं इसलिए गुरु से और गुरु मार्गदर्शन देता है साधना की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया जाता है इसी प्रकार यहाँ पर भी केवल परिषद ने साधना की प्रक्रिया स्पष्ट कर दिया गया अन्य देवता तत्व इंसान सूक्ष्म से प्रकट किया सार्वभौम करने की जाएगा मदन ये बता इतने मुख्य चीजें हैं यहाँ साधन होती तो इन चीजों को कहते हैं कि भाई आप वाक्य के द्वारा तात्पर्य को ग्रहण किए बिना इनको सुन सुन नहीं सकते इसलिए भाषिका सोलह सूत्र प्रयोग करेंगे वाक्य बताएंगे एक सूत्र ये सर्वे वाक्य देंगे फिर उसको लेकर के पूरा मंत्र का विचार पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष लेकर समझा ये आपके बात की अपनी विलक्षण श्रेणी है देखिए समाप्तम कर्मार्थभूत प्राण विषय विज्ञान कर्म चरण के प्रकार ये नवम अध्याय है तलोकार शाखा का नवम अध्याय इस नवम अध्याय में आप पढ़ रहे हैं परिषद को इससे पहले जो आठ अध्याय बीत गए हैं हम आठ अध्याय में क्या था वो बता सनातन कर्म आकर्मात्मभूत प्राण विषय विज्ञानम कर्म और कर्म का जो आत्मभूत स्वरूप होता जो प्राण विषय को उपासना है विज्ञान मैंने उपासना विज्ञान मैंने उपासना और कर्मचर कर्म का आत्मभूता स्वयं होता जो प्राणोपासना है और कर्म के बारे में जो कहना था अनेक प्रकार अनेक प्रकार कर्म और तत्समुद उपासना का विचार आप अध्ययन कर लिया जाए ये हो विकल्प समुच्च अनुष्ठान दक्षिण उत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम आवृत्ति अनावृत्ति प्रवता जिनके विकल्प करने पर अथवा समुच्चय करने पर विकल्प करेंगे स्वतंत्र रूप से आप तो मार्ग में चले जाओगे केवल कर्म अनुष्ठान किया अरे कर्म से तो पास आ लिया वो भी उत्तरण मार्ग से जाएगा मुक्ति को गारंटी लेकिन उसको लौटना पड़ता है लेकिन सकाम कर्म को त्याग कर और सकाम उपासना को त्याग कर नित्य कर्म नित्य निवृत्ति करता है निष्काम उपासना से युक्त कर योग करेगा और निश्चित से कर्म मुक्ति को प्राप्त करेगा इसे कहता है ये योग विकल्प समुच्च अनुष्ठाना कर्म और उपासना कर्म और उपासना इसका विकल्प यही है आपकी मर्जी है सूचना केवल कर्म कर दो तो केवल उपासना कर दो सकाम करो मर्जी आपकी है अगर समुचे करना हो कर्म और उपासना समुचे करो और सभी निष्काम कर्म निष्काम उपासना समुचे करो सर्वोत्कृष्ट मामला है और निष्काम कर्म सकाम उपासना करो ये कृष्ण मामला है और सकाम कर्म सकाम उपासना और भी निकृष्ट है और बिल्कुल याद करना उससे भी निकृष्ट है केवल कर्म कर्म वो दक्षिण मार्ग हो जाता है जिन दोनों दोनों में और उपासनाओं का मामला ऐसा है आपके हाथों में है क्योंकि क्रिया है क्रिया हमेशा क्या होती है कर्तुमा कर्तुम का कर्तुमा आप मर्जी है करिए न करिए तो उल्टा करना नहीं हम्म, करिए चाहे न करिए तो उल्टा कीजिए आपके आप में क्रिया है लेकिन व्यक्ति का ज्ञान आज मर्जी उसको घट को पट ग्रहण कर लो काम चलेगा नहीं और कौन ना यदि घट ये पट है तो उसको ओढ़ लो ओढ़ लेगा नहीं घड़े को ओढ़ सकते हैं तुम लेकिन वहां पर वाले क्या करते हैं वस्तु विषय न असंभव है क्रिया विषय नहीं तो संभव होता है ब्रह्म जो है वो है उसको आप करते कर्तव्य अनता कर्तव्य नहीं कर सकते आपकी मर्जी से नहीं वस्तु उसके स्वरूप में किसी प्रकार से आप बदलाव नहीं ला जो है वही आप जान सकते हैं केवल जो है उसको आप जान सकते हैं अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसमें ऊपर ऊपर कुछ भी आप इसलिए आप कहते हैं कि इन दोनों में क्या क्या विकल्प है समुच्चय है उनके अनुष्ठान से दक्षिणोत्तराभ्याम सर्दीभ्याम दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग से आवृत्ति रूपा और अनावृत्ति रूपा जो दक्षिण मार्ग क्या है आवृत्ति होता है और उत्तरायण मार्ग अनावृत्ति रूपा मार्ग है उनको जो है प्राप्त होते हैं आठ अध्याय के बाद इस नवम अध्याय में क्या हो रहा है फलन यदि ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान जिस व्यक्ति ने कर्म और उपासना को कैसे किया फल निरपेक्ष निष्काम भावना से ज्ञान उपासना तो ज्ञान शब्द उपासना निष्काम भावना से जिस व्यक्ति ने उपासना और कर्म को समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान किया विद्या अगर अविद्या मृत्यु विद्या अमृतम है होगा तो समुच्चय अनुष्ठान कथात्म संस्कार से छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक द्वैत विषय दोष दर्शिना निर्ज्ञात अशेष बाह्य विषयता संसार बीज अज्ञान सतह इसमें विशेष है उस आदमी का जो व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म और उपासना करके क्या किया है उसने अपने आप को संस्कारित कर लिया है हाँ, इसलिए कहते क्या कृत आत्म संसार से अर्थात अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया है आता है अंतकरण उसको संस्कारित कर लिया धो दिया साफ कर लिया जिसने अपने आत्मा को मेरा अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया है और कुछ आत्मज्ञान प्रतिबंध जो शुद्ध आत्मज्ञान है ज्ञान है उसका प्रतिबंधक जो भी था मल उसको उसने उखाड़ दिया है उच्छेद कर डाला है और द्वैत विषय किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं है सभी विषय में दोष दिखाई देता है द्वैत विषय दोष दर्शिना है और कैसा है निर्ज्ञात अशेष बाह्य विषय तक क्योंकि उसने समस्त बाह्य विषयों का प्रत्येक स्वरूप वस्तु के स्वरूप को संयुक्त प्रकार से उसने ज्ञान दिया है अतएव संसार बीजम अज्ञानम संसार का जो बीज है अध्याय उसको उच्च कहा उच्छेद करने का इच्छुक है छेद करने का इच्छुक होता है जो ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई खंड है कर्दार्थ संस्कार से एक विशेषण छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंध से दूसरा विशेषण द्वैत विषय दोष दर्शन तीसरा विशेषण निर्ज्ञान दोष विषयता संसार बीजम ज्ञान विशेषता चौथा विशेषण ऐसा व्यक्ति के प्रति क्या कर रहे हैं प्रत्येक जिज्ञास हो और ऐसा इच्छा विशेषण की स्थिति प्रत्येगात जिज्ञास हो जो अपने आत्मस्वरूप का आत्मस्वरूप विषय का उसके अंदर जानने की इच्छा है इसके लिए स्वरूप तत्व ज्ञान आया अयम अध्याय उसी व्यक्ति को कहने इत्यादि आत्मसत तत्व विज्ञान कराने के लिए यह अध्याय नवम अध्याय आरंभ होता है तेरे च मृत्यु परम अज्ञान उच्छेद तत्तंत्र संसार में कहा एक ब्रह्म ज्ञान है आत्मज्ञान है न प्रत्येक आत्मज्ञान के द्वारा मृत्यु पदम अज्ञान मृत्यु का कारणीभूता मृत्यु पद के गचते यथना पद मृत्यु पदम अज्ञान उसको उच्छेद उसको उच्छेद करना चाहिए क्योंकि तत्तंत्र संसार तत्व अज्ञान के अधीन होकर के ही यह संसार प्रवृत्त होता है तथा तत्म अज्ञान अज्ञान तंत्र संसार अज्ञान कहाँ से आ गया था अनधिक अभिप्राय आत्मा युद्धाधिगमायन विषय जिज्ञासा अनधिक अभिप्राय आत्मा आत्मा कहा स्वरूपानुभूति न होने से ये अज्ञान है अज्ञान होने से संसार है संसार होने से जन्म मरण के चक्कर में अनुभव हो रहा है जन्म मरण का चक्कर में शरीरों में रह करके तीन प्रकार सुख दुखाय करते हैं ये चक्कर लग एक दूसरे संबंधित है इसलिए युक्ता तत् क्या है इसलिए ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे आत्मा को जानने के लिए उस आत्म विषय जिज्ञासा करना उचित नहीं है पारा सूत्र पारा सूत्र जैसा वाक्य उपयोग करेंगे हमने कहा था पारा वाक्य है इसको नोट कर लो अंडरलाइन कर लो ये इसकी फिर व्याख्या होगी क्या कारण विषय चाणुक्ति तद्रोधिता कर्म विषय अनुक्ति तद्रोधिता ये का पूर्व स्वरूप सिद्धांत पक्ष का एक सूत्र बोल दिया एक वाक्य केली शीतम लेकर के प्रथम खंड पूरे का आधार होते पूर्व जी कहता है यदि ज्ञान से मोक्ष होना था फिर आज अध्याय में इतना मेहनत का फर्क किया आपने कर्म को बताया आत्मा को बता दिया कर्म अनुष्ठित कर्म से अनुष्ठित यदि आत्मज्ञान से मोक्ष होना है कर्म उपासक कुछ होना नहीं चाहिए भाग्य का क्यों इसकी आप इतना ज्ञान दे रही हो अर्जुन ने कहा जय चित कर्म से उदाहरण अर्जुन किन हो रहे कर्म नहीं मान हम्म? वही बात है वही यहाँ पर बोल रहे हैं भाषिकार यदि पूर्व पक्षी कहता है भाषिकार पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं कर्म अनुष्ठित कर्म को कहा चक्र में डाल दिए और आश्चर्य आज तक तो क्या है संख्या क्या कभी चलता है तो काम हम्म? बहुमत और रोज डालोगे कर्मकांड कितना लोग मंत्र मिलेगा अस्सी हजार मंत्र कर्मकांड उपासना सोलह हजार और ज्ञान को चार हजार उसका तो जो है जमा जब्त हो जाएगा कि चार हजार वोट मिला उसको चार ही हजार मंत्र उसमें है और बताओ इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं इसलिए कभी तिरासी हजार मंत्रों ने कर्म की चिंतन किया क्या पूरा एक से चार हजार होना चाहिए बाकी वो छियानवे हजार को खत्म कोई जरूरत नहीं उसका भी ज्ञान से मूर्ति है और ज्ञान ही सब कुछ है और जो संसार है वह ज्ञान है वो डुबाने वाला चीज है उसको चर्चा ही करो चर्चा ही करो कर्म के बारे में कर्म के विषय में मुक्ति ही नहीं होना चाहिए पीछे देखिए अस्य विजिज्ञास आत्म तत्व से कर्म विषय आलोचना और से कर्म विषय कहने का मतलब ये जो जिज्ञासा का हमारा विषय है आत्मा इस आत्म तत्व को कर्म के प्रकरण में इसमें कथन हम नहीं किए कर्म का प्रकरण में हम इसको नहीं कहें कारण विषय मैंने कर्म दर विषयों की चर्चा जहां हुई वहां पर हम इस आत्मा के बारे में नहीं कहेंगे क्यों जो कर्म के अधिकारी है और जो आत्मज्ञान के अधिकारी है ये दोनों पूरे मुद्दा सदगुरु मुद्दा कोई अकस्मा तो दीजिए क्यों नहीं कहा आपने वहां अरे वही बीच बीच में आत्मज्ञान भी देते तो। जाते थोड़ा कर्म की चर्चा होती फिर थोड़ा आत्मज्ञान फिर कर्म फिर आत्मज्ञान फिर कर्म ऐसी नीति की आपने खिचड़ी मिला मिला के बोलते जाते आप बिल्कुल आठ अध्याय बोले जाओ अलग से नवम अध्याय में जो है क्यों नहीं उसी को रख दिया ऐसे क्यों कर रहे हैं आप पीछे आत्म यथावत विज्ञान कर्मणा विरुद्ध कर्मणा विरुद्धत्वा कौन आत्मा का जो यथावत विज्ञान है वह कर्म के साथ विरोध खाता है का विरोध नहीं निर्विषय ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा विज्ञापिता निर्विषय जो ब्रह्म है उसके स्वरूप को ही स्वरूप होता है उसका स्वरूप आपको जो आत्मा है उसी को जानने के लिए आप इच्छित है और उपनिषद उसी को बोल कराना चाहती है जिज्ञापिता निजंत वो चाहता था वो तो जिज्ञास होता क्या वो जानना चाहता था और श्रुति रूपी गुरु जानना बोध कराना चाहती है इसलिए जिज्ञापेक्षिता अभी साधारण रूप नहीं यदि जिज्ञापेक्षिता बोल सकते थे विशेष रूप ससाधन स्वपासना मंदाधिकारी हो तो इसलिए उपासना सहित सगुण उपासना आदि सहित ही कथन करना चाहती तदेव ब्रह्म विधि एवं वेदम इत्याविष्ट है यही स्वराज्य अभिषिक्ता ब्रह्मत्म गमित कंचन निमित विच्छति अतो ब्रह्मास्मी संबुद्धो न कर्म द्वारा शक्य है स्वराज्य अभिषिक्ता जैसे लोक व्यवहार में भी देखिए जो सम्राट हो गया अब वो क्या है किसके सामने झुकेगा वो सारी दुनिया उसके सामने झुकती रहेगी तो किसके सामने झुकेगा इसकी साधन नहीं इसी प्रकार स्वराज की तो अगर आपको तो स्वरूप में साबित हो गया तो क्यों किसको प्रारंभ करने जाएगा क्योंकि उससे भी कोई दूसरा है नहीं ये अहंकार कहीं से नहीं वहां राजा अहंकार से करता है यानी यह स्वरूप से दिन कहीं दूसरा हो तब न प्रणाम करे प्रणम्य प्रणाम प्रणाम का भाव हो तब तो क्या लगता है मान लेंगे हम आप जो तो आप हमसे बड़े हैं तब आपको हम प्रणाम करें जब हमसे बड़े कोई है नहीं ना कोई हमसे छूटे हैं सब हम ही है और किसको प्रणाम करें एक चीज हमने हमारा महाराष्ट्र कीर्तन कार्य की प्रगति में भी अच्छा बना ये पॉइंट अच्छा बड़े जिससे वो लाभ उठा रहे कि नहीं उठा रहे बनावट करते हैं भ्रम भ्रम ये गलत चीज है एक कोई कार्य कर रहा है नाम का अब इसमें कोई गुरु भी आ जाए ना उसको खुद का गुरु भी आ जाएगा वो भी प्रणाम शरीर में जो चरा मेरा कीर्तन करता है उसको प्रणाम करने के वहां ऐसी पद्धति है तो पद्धति है तो वे गुरु भी प्रणाम करके खड़ा शरीर में श्रोता भी निकालेगी एक अच्छी चीज है और यदि इसको सबको कल्पो इसको समझे क्यों ये प्रक्रिया अपनाया गया होगा अहंकार को तोड़ने को मिल जाएगा तो गुरु और शिष्य का भेद को भंग कर रहे हैं ना आपने शिष्य को भी स्थिति में जब बोल रहा है कीर्तन कर रहा है आप ये मान साथ साथ ज्ञान करना है नहीं शिष्य भाव क्या दिया ये करोगे वो तो बराबर तुम मान रहा है कि मेरा शिष्य कर रहा है फिर भी कथा चली है तो चलो मैंने कर दिया मतलब ठीक है चल तो भूल हो गया ठीक है अगर भावना के साथ भी अपने अहंकार को त्याग करता है शिष्य गुरु भाव को भेद को भंग करके करता है तो मुझे तो बहुत ऊंचा तक पहुंच जाएंगे तो साधारण हो जाएगी उसकी हमने वाले दी बहुत गिरावटी है तो हर की गिरावट मिला हर जगह इसमें सीखने की चीज बिल्कुल ऐसी ऐसे नहीं है हम बोलते हैं तो अच्छाई भी देखते हैं बुराई भी देखते हैं ये बुराई तो क्या अच्छा पता नहीं देखना चाहिए तो कहने का तत्व तो यहाँ पर यही है कि वो बोल कराना चाहती है क्या जो क्योंकि स्वराज्य में जो अभिषिक्त है ब्रह्मत्म गमिता अभिषिक्त सन ब्रह्मत्म गमिता जो ब्रह्मत्व को जान लिया अपने स्वरूप में अभिषिक्त हो गया है अपने स्वरूप में स्थित हो गया और ब्रह्मत्व की अनुभूति कर लिया है वह तो कंचन निमित्तम इच्छती नहीं कंचन निमित्तम इच्छती और किसी को नमस्कार करना भी नहीं चाहेगा क्योंकि भूमि खत्म हो गया अब तो ब्रह्मास्मी की संबुद्ध इसे जो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मी करके जान लिया है वह न कर्म कार इतनी शक्य है न कर्म कर सकता है न करा सकता है हमने तो अन्य मानव से नहीं होता नहीं अवाप्तार्थम ब्रह्म मन्यमान प्रवृत्ति रोजरवती पश्य क्योंकि जो है आत्मान अवाप्ता वो क्या मान रहा है अपने आत्मा को सकल प्रयोजन प्राप्त हो गया और कोई प्राप्त करने के लिए रहा नहीं प्राप्ति नाम गति चीज नहीं रह गया आत्मा को प्राप्त कर गया अर्थ है वो सकल प्रयोजन को प्राप्त किया हुआ अतएव ऐसे ब्रह्म को मान्य मानता हुआ व्यक्ति प्रवृत्ति प्रयोजनवती नहीं पश्यती नहीं आत्मनिधन नहीं पश्यती ऐसा व्यक्ति किसी प्रवृत्ति मार्ग को प्रयोजन वाली क्यों न हो वह प्रयोजन भी उसके लिए तो प्रयोजन ही नहीं है जो प्राप्त करना सब प्राप्त ही करिए लिया कर्तव्य प्राप्त प्रापल्यम पंचम शिव नहीं बनाएगा कृपम कृत्य जितना भी कृत्य मेरा कर्तव्य है वो सब तो मैंने कर ही लिया और जो मेरा प्राप्त नहीं था वो सब प्राप्त कर लिया स्वरूप प्राप्त कर दिया तो सारा प्राप्त हो गया कि स्वरूप में सब कुछ करते हुए स्वरूप में पहुंच गए सब प्राप्त अब प्राप्त कुछ नहीं रहा अकृत कुछ नहीं रहा अतीब प्रयोजन वाला कर्मकांड हो वासना कांड हो कुछ भी हो फिर वह प्रयोजन वाला प्रवृत्ति को भी वह नहीं देखता प्रयोजन वाला के रूप में उसको तो नहीं देखता उस प्रवृत्ति को भी उसके लिए उसकी निष्क्रिय है वो भी निष्क्रिय है है इसीलिए कर्माधिकार उस व्यक्ति को हो नहीं सकता अतीव कर्म के चक्र में आत्मा का चर्चा हम नहीं कर है ना कारण विषय उन आठ के बीच में ही कहीं ना कहीं आत्मज्ञान को घुसा देते कुछ भी विषय बना देते अगर तो वहां हम उसको नहीं कर सकते नहीं कह देते क्योंकि पद विरोधान के कर्म के साथ ज्ञान था विरोध इसलिए इस के बारे में कर्मकांड के प्रकरण में इसको नहीं कहा गया सात अध्यायों में क्योंकि यह विज्ञान विशेष का ही विषय है की जिज्ञासा अजय आर्थ प्रकरण गलत कर दिया गया तो कर्म का आत्मा ज्ञान के साथ क्या कहता है यदि ऐसा है विरुद्ध है और ज्ञान से मोक्ष होता है तो कर्म का विधि क्यों किया कर्माराम वैधि छेद निष्काम से संस्कारार्थ अगला वाक्य आया कर्माराम छेद न कर्म का अनारंभ होना चाहिए आरंभ नहीं करना चाहिए न ऐसे नहीं कह सकते क्यों कहते हैं निष्काम से उन्हीं कर्मों को निष्काम भावना से कोई पुरुष करता है वो कर्ण शुक्र के संस्कार करने के लिए ही होता है अतः कर्म का आरंभ नहीं है क्या क्या होगी इस सूत्र का ये दूसरा सूत्र भाषिकार यदि ही आत्मविज्ञान आत्मा विद्या विषय परित्यादिशितम कर्म तथा प्रक्षालनाद्युपंक सुदूराय स्पृष्णपुरम अनारंभ कर्म श्रेयान अल्प फलत्वाद आयास भोलत्वा यदि आत्मविज्ञान के द्वारा ही यदि ही आत्मविज्ञान है व्याख्यान है आत्मा जो है आत्मा शुद्ध ब्रह्म है ये आत्मविज्ञान के द्वारा आत्मा की अविद्या विषय आत्मा विद्या विषय अविद्या विषय तत्कार्य कई कर्म इसीलिए कर्म जो है त्याग का ही त्याग की इच्छा का विषय सभी लोग कर्म को त्याग नहीं चाहते तो जिज्ञासित नहीं है पर है तो जानने के लिए इच्छित नहीं है क्या हाँ करने के लिए इच्छित वस्तु है इसीलिए क्यों इसलिए विचार आ रहा है पक्षाद्य पंकज दूरादर्श महाभारत वन पर्ण पर्वत है दूसरे अध्याय उनचासवा श्लोक पद प्रक्षाणाद्य पंकज दूराद अस्पर्शन वरम कीचड़ में पैर डालोगे फिर उसको धोओगे उससे अच्छा है दूर से उसको स्पर्श ना करो जो मूर्खता वाली बात बनेगी निवृत्ति परिणाम कीचड़ गुर गया फिर परिणाम कीचड़ गुर गया है ऐसा काम करेगा मूर्खता पर व्यक्ति मगर मूर्ख वही करेगा विवेक की तो ऐसा काम कभी नहीं करता पर ये जहाँ देखो पंख है कीचड़ है तो दूर से कीचड़ से दूर से निकल जाता है उसी प्रकार जो कर्म आपको किसी काम का है नहीं जो बंधन देने वाला है संसार देने वाला है ऐसे कर्मों को हम क्यों करें इसलिए त्याग के लिए इच्छित वस्तु है वह जो है हमारे अनुष्ठान का विषय नहीं है इसलिए वेदों में कर्म का विचार नहीं चाहिए कोई पक्षी कहता है इसलिए अनारंभ कर्म न श्रेयन इसलिए कर्म के प्रकरण को आरंभ न करना ही श्रेष्ठ बात था क्यों अल्प फल कर्म का फल भी कैसा है खर्चे से कर रहा तो भी अल्प फल शुद्ध फल देने वाला बंधन में फंसाने वाला बहुल आयास बहुल और बहुत प्यास करना पड़ता है कर्म काल करने बहुत दिमाग रखना पड़ता है यज्ञ मंडप बनाना मुश्किल है कठिन काम यज्ञ मंडप बनाने में हालत खराब होता है एक खंभा भागना है एक सूट इधर से उधर भी होना है ये नहीं मानना है जाके के यहाँ चालू कर दिया काम आजकल तो यही करते हैं लोग लेकिन जो सही ढंग से करने वाला है वो नहीं कर सकते तो आपका हरदम अंतर में हर हरदम बदल में भी खंबा ऐसे गाड़े द्विवेदी के आधा अंदर हो चाहे आधा बिल्कुल दम तो खंबा होता है तो लोग का आधा अंदर की और आधा बाहर की एक स्मूथ इधर उधर होना नहीं चाहिए या अपूर्व बिगड़ जाएगा योगी अपूर्व संपर्क नहीं है अर्धम भजन समाज से अच्छी है वो समाज है ठीक आधा बाहर ही आधा कितना कठिन काम है एक सफल थोड़ा भी जोर से इधर मारा तो उधर किधर जाएगा तो एक सूत्र उधर गई तो गया था फिर ठीक एक खंबा गाड़ते गाड़ते तो समझो बारावंशी बरावंशी मार्ग जी कराए आठ घंटा लग गया चार खंडा गाड़ने के मजदूर बोल दो घंटे भी नहीं सर ये जी के राज नहीं दक्षिण के पंडित आए थे ना आपस में सुनकर बिल्कुल नहीं चल चले फिर सारा खाना सब डाल दिया सब ना अपना आपकी बड़ा लगे में घर पंडित बड़ा परेशान कर अंग्रेजों को नहीं डाल तीन घंटे उनको उसके साथ पूरे और पंडितों को अपना शहर लगे रहे आठ शाम तक तैयार खम्बा गाड़ रहे उसका किस दिशा में कितना जाएगा कितने लोग किस दिशा में रहेगी उसकी होता है किस दिशा में रहेगा तो इधर उधर करते तो तीन दिन पूरा लगा दी जीवन बनाने बनाने उसमें हम लोग के क्या नीति का टूटी है रविंद्र तुझे और कितना त्रुटि रह गया इसे इसलिए आयास बहुत इसमें आयास बहुत है बहुत परिश्रम करना ऐसे कर्म को क्यों आप कथन कर रहे हैं क्या जरूरत है वेदन इस कारण सत्य ज्ञान आदि होते प्राप्त क्योंकि सत्य ज्ञान से ज्ञान होना है तो कर्म का आरम्भ हो करूँ अर्धांगी कारण कहते हैं ठीक ही कह रहे हो आप वास्तव में कर्मकांड को आरम्भ करने कोई जरूरत नहीं बात किसके लिए जरूरत नहीं है किसकी वृत्ति से हमारे तक है ये तो जानो वो तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए जरूरत है जो ब्रह्मानुभूति कर लिया है उसको जरूरत नहीं है जरूरत उन्हें है जो करना चाहते हैं जो ब्रह्म की जिज्ञासु है उन्हें जरूरत इसे असत्यम करके कहा विजय ना करके नहीं करो बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे और नहीं निकाल चिन्ह तो भी है और मिली भी है जरूरत उन्हें है जिसको अंतरण शुद्ध करना है जिसका हम भावना से करेंगे जरूरत उन्हें नहीं है जो स्थिति में पहुंच करवाते करते ही एक अविद्या विषय कर्म अल्प फलत्वाल दोष बंदर पंच सकाम सकाम पुरुष के लिए कर्म क्या है बंधन का कारण बनता है अविद्या का विषय बनता है कर्म वो तो अल्प गुण वाला भी आदि दोषों से हो जाता है बंदरूप हो जाता है इसके लिए सकाम पुरुष के प्रति अविद्या का विषय होता है कर्म है वह अल्प फलत्व आयास फलत्व अनित्यता अनेक दोषों वाला होते हुए बंधन का कारण बनता है तो कहा है कामान्य काम रूपये पिंड प्रतिशत कामान यह काम लेते हैं तो मन्यमान सकाम गिर जाए थे कामान यह काम लेते तो मन्यमान सकाम भी जायते तो जो कामनाओं को मानते हुए वह कामना से युक्त होकर के कर्म कांड को करता है वही बार विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहता है ऐसा मंदिर को परिषद तीन दो दो निकाह है इति कामयमान कामयमान इत्यशु और एक जगह पर इति मू कामयमान एवं तभी